करे रमानिवासां हरसि चले सिपासा बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए भय मोहि आश्रमयाये अब प्रभु संग जाऊँ गुरु पाहे तुम कहनाथ निहोरा नाहे देखी कृपा निधि मुनि चतुराए लिए संग बिह से दो भाई एवं ऐसा ही हो ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले तब सुशिक्षण जी बोले गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे पंथ कहत निज भगति अनुपा मुनिया श्रम पहुँचे भूपा तुरत सुते क्षण गुरु पह गयऊ करी दंडवत कहत यस भयऊ नाथ कोसला देश कुमार आये मिलन जगत आधारम राम अनुजस नित वेह निस देव जपत हऊ रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजराजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुँचे सुतिक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे हे नाथ अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं सुनत जगस्ती तुरत उठिधाय हरि बिलो किलो चन जल छाए मुनिपद कमल परे दो भाई ऋषि प्रीति लिए लाई कुशल पूछि मुन ज्ञानी आसन बर बैठारे आने पुनि कर बहु प्र कर प्रभु पूजा मोहि समभाग्य वंत नहीं दूजा जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा हर से सब बिलोक सुख कंदा यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया ज्ञानी मुनि ने आदरपूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर शरद इंदु तन चितवत मानहुलिकर चकोर मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठ बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो